परम पिता परमात्मा का स्मरण समस्त जगत को उत्पन्न करने वाला ईश्वर प्रणव ध्वनि ओ oh. ईश्वर प्रेमी सज्जनों परमात्मा को हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं विभिन्न शब्दों से संबोधित करते हैं और इन सब संबोधनों में पुकारने में परमात्मा के उस स्वरूप की भावना मन में रखनी होती है जिस शब्द से परमात्मा को पुकारते हैं संबोधित करते हैं उस शब्द का अर्थ जितनी व्यापकता से हम अपने मन में रख पाते हैं जितनी समझ हमारी उस संबोधन शब्द से संबंधित होती है उतना भाव और विचार हमारे मन पर रहता है और वैसा ही अधिक और अच्छा प्रभाव मन के ऊपर आता है संस्कार पड़ते हैं परमात्मा के इन गुणों का संस्कार मन पर पड़ने से धीरे धीरे हमारी परमात्मा के प्रति वैसी ही दृष्टि गहरी होती जाती है और हमारे व्यवहार भी उसको ध्यान में रखते हुए परमात्मा के उस स्वरूप को ध्यान में रखते हुए बनने लग जाते हैं और यही परमात्मा की स्तुति करने का प्रयोजन भी है परमात्मा की स्तुति करके परमात्मा के प्रति प्रीति बढ़ा के और परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसके आदेशों के अनुरूप उसके गुणों के अनुरूप स्वयं भी बनना अच्छा बनना और इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकना आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश में प्रथम मंत्र की व्याख्या में महर्षि दयानंद ने बहुत सारे संबोधन परमात्मा को किए हैं आज हम एक अगला संबोधन लेते हैं सर्व जगत उत्पाद का आधार हे सर्व जगत उत्पाद का आधार सर्व का मतलब सारे जगत का मतलब ये जो निर्मित लोक लोकांतर हैं और इन लोकों में जो भी निर्मित वस्तुएं हैं वे सब निर्जीव और सजीव सर्व जगत के उत्पादक उत्पादक अर्थात उत्पन्न करने वाला और उत्पादक आधार उत्पन्न करने वाले रूप आधार परमात्मा सर्व जगत का आधार है परमात्मा के आश्रय से ये जगत बना है परमात्मा किस प्रकार का आधार है उसका एक रूप यहां कहा उत्पाद का आधार उत्पन्न करने वाला आधार जो भी कार्य वस्तु उत्पन्न होती है उसका एक आधार तो उसका उपादान द्रव्य होता है अर्थात वो द्रव्य वो तत्व जो कार्य रूप में परिणत हुआ है जो कार्य बना है नई वस्तु बना है जैसे कि मिट्टी से घड़ा घड़ा एक कार्य वस्तु है और उसका आधार मिट्टी है लेकिन मिट्टी उपादान के रूप में आधार है मूल तत्व द्रव्य के रूप में आधार है घड़ा बनाने में कुम्हार भी आधार बनता है लेकिन कुम्हार उपादान रूप में आधार नहीं बनता वो उत्पादक होता है उत्पन्न करने वाला होता है तो जिस प्रकार से घड़े का उत्पादक आधार कुम्हार होता है ऐसे परमात्मा भी इस जगत का उत्पादक रूप आधार है वो उत्पन्न करने वाला है और इस रूप में वो इस जगत का आधार है आधार हम उसे कहते हैं जिसके बिना आधे टिक नहीं सकता आधार धारण करने वाला होता है और उसके ऊपर जो चीज रखी जाती है जो आश्रित होती है उसको वो धारण करता है जैसे कि घड़े का आधार नीचे तिपाया होता है उसको धारण करने वाला होता है अगर टिपाया ना हो तो घड़े घड़ा ऊपर धारण नहीं किया जा सकता ऊपर नहीं रखा जा सकता इसी प्रकार से ये जगत टिक नहीं सकता ये जगत बन नहीं सकता यदि परमात्मा न हो इस रूप में परमात्मा आधार है लेकिन वो उत्पादक आधार है महर्षि ने यहां पर जगत शब्द जोड़ा है जो भी गतिशील है इस संसार में जो गतिशील पदार्थ हैं जो उत्पन्न हुए हैं उन सब का आधार वो परमात्मा है इन लोक लोकांतरों में जब हम देखते हैं तो कोई भी ग्रह उपग्रह ऐसा नहीं ज्ञात होता जो गति ना कर रहा हो सतत गति करते रहते हैं ये पृथ्वी भी जो स्थिर दिखाई देती है वो सतत गति करती रहती है और आकाश में ध्रुव तारा जो हमें स्थिर दिखाई देता है एक ही जगह पे दिखाई देता है एक ही दिशा में एक ही स्थान पर दिखाई देता है वो भी गतिशील है ये अलग बात है कि वो हमें गतिशील दिखाई नहीं देता क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष उसकी गति ऐसी है कि वो सदा वहीं पर ही दिखाई देता है ऐसे दो चीजें एक ही गति से एक ही दिशा में चल रही हों तो ये प्रतीति बनती है कि दोनों स्थिर है क्योंकि साथ साथ चल रही हैं यदि दो गाड़ियां एक समान गति से चल रही हों दोनों की खिड़कियां साथ साथ चल रही हों तो ये प्रतीति होगी जैसे कि दोनों स्थिर हैं तो इस संसार में जितने भी लोक लोकांतर हैं वो सब गतिशील है और उनमें भी जो वस्तुएं हैं वे सब भी गतिशील हैं परमाणुओं में भी सतत गति हो रही है तो इस जगत का उत्पादक आधार परमात्मा है इसके साथ महर्षि ने विशेषण जोड़ा सर्व सब जगत का वो उत्पादक आधार है परमात्मा इतना विशाल और इतना शक्तिशाली है कि वो इन सब को उत्पन्न करता है एक एक पृथ्वी का जो कि अपने आप में अति विशाल है एक एक सौर मंडल का जो अपने आप में भी बहुत विशाल है उनका निर्माता कोई अलग अलग हो ऐसा न हो के ये सर्व यानी सब जगत का वो उत्पादक आधार है परमात्मा सब जगत का उत्पादक आधार है और वो कोई एक ही है इसका बोध हमें इस जगत के परस्पर समन्वय परस्पर एक दूसरे के उपकार एक दूसरे के सहयोग से पता लगता है यदि हम इस पृथ्वी को भी देखें पृथ्वी पर भी हमारी दृष्टि से अनंत वस्तुएं हैं जो निर्मित है विविध प्रकार की इन सब में परस्पर समन्वय है मनुष्यों में परस्पर समन्वय है मनुष्यों का पशुओं के साथ में समन्वय है मनुष्यों का पेड़ पौधों के साथ में समन्वय है मनुष्यों के शरीर में जो रचना है वहां जो चीज पचती है जो उपयोग में आती है वो वृक्षों में बन रही है जंतुओं में बन रही है जंतु पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं तो एक में जो रचना है उसके अनुकूल अन्य रचनाएं भी हमें दिखाई देती हैं यदि स्वतंत्र स्वतंत्र निर्माता हो तो ये आवश्यक नहीं होता कि उनमें परस्पर समन्वय हो जैसे अलग अलग घरों को बनाने वाले एक घर यहां बना है एक घर किसी दूसरे देश में बना है तो उनमें परस्पर समन्वय नहीं होता है कि एक घर दूसरे पर आश्रित हो एक के बिना दूसरे का काम न चलता हो वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं लेकिन यहां जो शरीर की रचना है वो ऐसी कि इसमें पेड़ पौधों में बनने वाली चीजों का उपयोग किया जा सकता है और इस शरीर से जो मल रूप में निकल रहे हैं या शरीर का जब नाश होता है तो वो चीजें ऐसी कि वो अन्य पेड़ पौधों और अन्य जीव जंतुओं के उपयोग में आती हैं जंगल में कोई प्राणी मरता है तो पहले बड़े बड़े पशु उनको खा जाते हैं मांस को फिर छोटे जंतु यानी पक्षी आदि आते हैं जो थोड़ा थोड़ा मांस जो चिपटा हुआ है उसको भी खा जाते हैं हड्डियों के जो जुड़ा हुआ है उसको भी वो खा जाते हैं जिस मांस को शेर नहीं खा सकता जिसको गीदड़ नहीं खा सकता जिसको सियार नहीं खा सकता वो जो बच जाता है उसको भी कुछ पक्षी आकर के खा जाते हैं लेकिन पक्षी भी सब कुछ नहीं खा पाते तो चीटियां और अन्य छोटे छोटे जीव वहां पर आ जाते हैं मकोड़े आ जाते हैं और वो बची हुई सारी चीजों को भी खा जाते हैं बिल्कुल सफाचट करते हैं कुछ भी नहीं बचता वहां पर जो भी खाने योग्य चीज है वो सब चीज खा ली जाती है समस्त प्राणियों के जो मलमूत्र के त्याग हैं उनका कुछ ना कुछ उपयोग है कुछ ना कुछ प्राणियों का वो भोजन है सूक्ष्म जीवों का भोजन है वो उनको विघटित करते हैं और वो फिर से इस प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं अब ये सूर्य इतना दूर दिखाई देता है लेकिन उसका इस धरती के साथ में अत्यंत निकट का संबंध है इस धरती पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते यदि सूर्य ना हो सूर्य का प्रकाश ना आ रहा हो तो ये एक दूसरे के साथ में संबंध बना हुआ है सूर्य का निश्चित दूरी पर होना दिन रात का निश्चित समय में बनना ये सारी की सारी प्रक्रिया समुद्र का हमारे जीवन से संबंध है जबकि हम समुद्र से बहुत दूर रह रहे हैं वहां से जल का उठना पर्वतों पर जाना समस्त जगह पे वृष्टि होना पर्वतों पर बर्फ का जमना ताकि बाकी गर्मी आदि के समय भी, भी जल नीचे आता रहे इत्यादि परस्पर समन्वय अति विचित्र ढंग से व्यवस्थित है इसको देख करके पता लगता है कि ये अलग अलग लोगों की रचना नहीं है ये सब एक जैसी रचना है एक बुद्धि वहां पर काम कर रही है एक ज्ञाता वहां पर है जिसने इनमें परस्पर संबंध बना रखा है जैसे कि कोई यंत्र बनाया गया हो उससे संबंधित कल पुर्जे हर किसी कंपनी के नहीं लग जाते हैं हर किसी के साथ में समन्वय नहीं होता है कुछ निश्चित के साथ में ही होता है तो यहां जो हमारा प्रकृति के साथ में इतना संबंध बना हुआ है वो इस बात को बताता है कि किसी एक जानकार ने परस्पर समन्वय स्थापित किया है और ऐसी व्यवस्था की है इसलिए महर्षि ने लिखा सर्व जगत उत्पाद का आधार किसी एक जगत का उत्पाद का आधार नहीं किसी एक शरीर का उत्पाद का आधार नहीं सबका है और ये हमें समन्वय से पता लगता है महर्षि ने जो उत्पादक शब्द यहां पर लिखा कि परमात्मा उत्पादक रूप में आधार है इससे हमें यह ध्वनित होता है कि परमात्मा उपादान के रूप में आधार नहीं है बहुत से लोग परमात्मा को ब्रह्म को स्वीकार करते हैं लेकिन वो ये भी साथ में मानते हैं कि ब्रह्म ही परमात्मा ही इस कार्य जगत के रूप में बदल गया ये प्रकृति ये सृष्टि अलग कोई तत्व नहीं है ब्रह्म परमात्मा ही परिवर्तित होकर के इस रूप में आ गया है जो लोग ऐसा मानते हैं वो इस जगत को परमात्मा के द्वारा निर्मित मानते हुए भी इस जगत का उपादान कारण भी ब्रह्म को स्वीकार करते हैं इस जगत का निमित्त कारण यानी उत्पादक कारण और उपादान कारण ये दोनों वो स्वीकार करते तो यदि परमात्मा ही ये बन जाता तो जैसा उपादान कारण होता है वैसे गुण कार्य जगत में दिखाई देते हैं आते हैं लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर कि ब्रह्म तो चेतन है और ये जगत जड़ है ब्रह्म तो सर्वज्ञ है और ये जगत अज्ञ है अज्ञात है तो इस भिन्नता से हमें पता लगता है कि परमात्मा इसका उपादान कारण नहीं है परमात्मा ने तो इस संसार को लेकर के बनाया है इस मूल प्रकृति को लेकर के इस संसार को बनाया है ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि सीमेंट आदि में भवन बनने की क्षमता तो होती है जुड़ने की क्षमता तो होती है लेकिन कोई जोड़ने वाला वहां पर उत्पादक अनिवार्य है प्रकृति ये सब कुछ बन सकती है उस प्रकृति में ये सामर्थ्य है बनने की लेकिन अपने आप बनने की सामर्थ्य नहीं है वो जड़ वस्तु के समान बनने की सामर्थ्य तो रखती है लेकिन कोई दूसरा उसको बनाए तब वो बन सकती है इसलिए एक उत्पादक आधार परमात्मा यहां पर अपेक्षित है बहुत से व्यक्ति जो परमात्मा को स्वीकार नहीं करते हैं इस सृष्टि के उत्पादक कारण को उत्पादक आधार को स्वीकार नहीं करते हैं। वो एक तर्क रखते हैं कि संसार में जो चीजें दिखाई देती हैं उनमें से कुछ चीजें तो दूसरों के द्वारा बनाई गई होती हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको कोई नहीं बनाता वो अपने आप बनती हैं जो परमात्मा को स्वीकार करते हैं वो तो इसी आधार पर परमात्मा को स्वीकार करते हैं बहुत जोर देके कि कोई भी चीज बनी है बुद्धिपूर्वक बनी है तो उसका बनाने वाला अवश्य होता है लेकिन वो कहते हैं कि ये तो आप परमात्मा की कल्पना करके ऐसा कर रहे हो ऐसा स्वीकार कर रहे हो आप तो तटस्थ भाव से इस जगत को देखो संसार को देखो यहां कुछ चीजें बनी हुई दिखाई देती हैं बनती हैं कोई बनाने वाला होता है लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको कोई बनाने वाला नहीं है तो बनी हुई चीजों के अंदर हम पुस्तक वस्त्र मकान अन्य हमारे पात्र आदि देखते हैं जिनको किसी ने बनाया है लेकिन पर्वत नदियां वृक्ष वनस्पति इनको किसी ने नहीं बनाया जंगलों को किसी ने नहीं बनाया इन तारों को किसी ने नहीं बनाया इसलिए हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि ये तो बस अपने आप हैं उत्पन्न हुए हैं तो अपने आप उत्पन्न हुए हैं और नहीं तो ये सदा से ऐसे ही हैं लोक में जब हमारे को दो तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं किसी बनाने वाले से बनने वाली और बिना बनाए बनने वाली निर्मित चीजें तो क्यों नहीं हम उनको दोनों को उसी रूप में स्वीकार कर लें तो ऐसी स्थिति में एक प्रश्न उठता है उनके ऊपर उनसे पूछना चाहिए उन्होंने जो ये प्रस्तुति थी उसमें कारण क्या बताया किसको हम किसी के द्वारा बनाया हुआ समझें वो किसको किसी के द्वारा बनाया हुआ समझते हैं तो जिसको जिसका बनाने वाले को जानते हैं जिसके बनाने वाले को देखा है उसको हम बनाने वाला समझेंगे ये उनका तर्क युक्ति आती है तो यदि उनके सामने कोई दूसरी ऐसी वस्तु प्रस्तुत कर दी जाए जिसके बनाने वाले को उन्होंने नहीं देखा हो जैसे हम भी बहुत सारी चीजों को बना हुआ पाते हैं हम मानते हैं कि इसको मनुष्य ने बनाया लेकिन हमने उसके बनाने वाले को कभी नहीं देखा और न हमने उसको बनाते हुए देखा ये माइक है उसको सब जने स्वीकार करते हैं कि ये किसी मनुष्य ने बनाया है इसका बनाने वाला है अथवा किसी यंत्र ने मशीन ने भी बनाया है तो उस मशीन को चलाने वाला कोई है ये सब स्वीकार करते हैं लेकिन यदि ये पूछें कि इसके बनाने वाले को आपने देखा है क्या आपने इसको बनते हुए देखा है तो नहीं देखा हमने ये घड़ी है इसको बनाने वाले को हमने नहीं देखा लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि ये किसी मनुष्य ने बनाई है तो उनका जो ये तर्क है कि जिसको बनाते हुए हम देखते हैं उसी का ही बनाने वाला स्वीकार किया जाना चाहिए तो संसार में बहुत सारी वस्तुएं अधिकांश वस्तुएं ऐसी हैं जिनको बनाने वाला बनाने वाला हमें ज्ञात नहीं है इतनी सारी कुर्सियां हैं इतने सारे वस्त्र हैं इसको बनाने वाला हमें पता नहीं है लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इसका कोई बनाने वाला था किसी ने इसको बनाया तो उनका वो तर्क तो खंडित हो जाता है कि जिसके बनाने वाले को हम देखते हैं उसको उसके बनाने वाले को हम स्वीकार करते हैं तो ऐसे में फिर वो एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि ठीक है कि हमने इस वस्तु को बनाते हुए नहीं देखा किसी ने बनाया ये नहीं देखा इस वस्त्र को बनाते हुए नहीं देखा लेकिन दूसरे वस्त्र को बनाते हुए हमने देखा है इस भोजन को इस रोटी को बनाते हुए हमने किसी को नहीं देखा लेकिन हमने रोटी बनाते हुए देखा है इससे हमें पता है कि इस तरह की चीज को कोई बनाने वाला मनुष्य होता है लेकिन पेड़ पौधे को बनाने वाला तो हमने कभी नहीं देखा पहाड़ को बनाने वाला तो हमने कभी नहीं देखा सूर्य को बनाने वाला तो हमने कभी नहीं देखा तो यदि किसी वस्तु के बनाने वाले को हम कहीं देख लेते हैं एक भाग को तो उस जैसी अन्य चीजों के बनाने वाले का कर्ता भी सिद्ध हो जाता है अनुमान से इसलिए हम मानते हैं तो उनके बाद फिर प्रश्न उठेगा कि बहुत सारी चीजों के बनाने वाले को आपने देखा है और उन जैसी दूसरी चीजें बिल्कुल वही किसी अन्य ने बनाई है और हम नहीं जानते तो भी आप मानते हैं ठीक है लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनके बनाने वाले को आपने कभी नहीं देखा है कभी नहीं देखा है जैसे हमारे सामने ये माइक है और हमने कभी नहीं देखा माइक बनते हुए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं रोटी के पक्ष में तो लग जाएगा कि हमने किसी को बनाते हुए देखा है लेकिन इन चीजों के तो बनाने वाले को हमने देखा नहीं है कभी भी इनका बनाने वाला कोई मनुष्य है ये आप किस आधार पर स्वीकार करते हैं मानते तो हैं वो भी तो कहेंगे कि हमने सुना है लेकिन वास्तविकता ये रहती है कि सुना और पढ़ा भी नहीं होता है कि इसका किसको किसने बनाया ये पता है कि ये किसी कंपनी का है और हम ये मानते हैं कि कंपनी में निर्माण होता है और ये बन करके आया लेकिन इसका कोई बनाने वाला है जो चीज हमारे सामने है इसका भी हमने अलग से तो किसी से कथन नहीं सुना लेकिन फिर भी मानते हैं और कल्पना कीजिए कि उनको उन्होंने जिन जिन को भी देखा है आज तक और मान लेते हैं कि किसी मनुष्य ने बनाया लेकिन ऐसी कोई विचित्र चीज किसी मनुष्य ने बनाई हो और वो जंगल में जा रहा हो और वहां मिल जाए या कोई ऐसा व्यक्ति जो शहर में किसी चीज को देख रहा हो पहली बार देख रहा हो तो उसको भी वो समझ लेता है कि इसको किसी मनुष्य ने बनाया है ये अपने आप नहीं बन गई है तो उसके लिए दर्शनकारों ने एक बात रखी कि यस्मिन अदृष्टे भी कृतबुद्धि रूप जाए थे तत्पौरुषयम जिस के कर्ता को न देखने पर भी कृत बुद्धि उत्पन्न होती है कि नहीं इसको किसी ने बनाया है किसी मनुष्य ने बनाया है तो ये पौरुष है ये किसी मनुष्य के द्वारा बनाए हमें ये आभास हो जाता है कि मनुष्य इस इस तरह की चीजें बना सकता है इसको किसी मनुष्य ने बनाया है एक कृत बुद्धि पैदा होती है तो उनसे जब हम पूछें कि भाई आपको ये कैसे पता लगा कि इसे वो किसी मनुष्य मनुष्य ने बनाया है तो उसका इसके अतिरिक्त उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा कि नहीं यहां कुछ व्यवस्था है यहां कुछ व्यवस्था है हमें पता लग जाता है कि इसको किसी मनुष्य ने बनाया है सामान्यतः वो ये उत्तर देंगे नहीं हमें पता लग जाता है कि इसको किसी मनुष्य ने बनाया है कैसे पता लग जाता है या तो वो कोई उत्तर नहीं देंगे और यदि उत्तर देंगे तो वो ये देंगे कि यहां ये जो रचना है <clears throat> मकान की माइक की ये रचना ऐसी है कि ये अपने आप नहीं बन सकती तुमसे पूछो अपने आप क्यों नहीं बन सकती <clears throat> अपने आप क्यों नहीं बन सकती तो बोले नहीं बन सकती अपने आप क्यों नहीं बन सकती अपने आप वो यही कहेंगे कि यहां ये रचना जो व्यवस्थित है विशेष प्रयोजन से बनाई गई है इससे कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा है इससे पता लगता है कि इसको किसी ने बनाया है यहां कोई व्यवस्था है बुद्धिपूर्वक रचना है और ये किसी प्रयोजन से बनाई गई है इससे कोई प्रयोजन पूर्ण होता है इससे पता लगता है कि कोई बनाने वाला है इसका तो जब वो इस बिंदु पे आ जाते हैं तो अब उनको हम ये कहें कि ये जो वृक्ष बना हुआ है जिसको आप कह रहे थे कि ये अपने आप बना है इसको परमात्मा ने नहीं बनाया है यहां आपको व्यवस्था दिखाई देती है या नहीं तो मना नहीं कर सकते कि यह व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है व्यवस्था है क्रमशः बढ़ते हैं पानी लेते हैं भोजन लेते हैं पत्र पुष्प आते हैं फल आते हैं पत्ते गिरते हैं एक चक्र चलता है एक व्यवस्था है पूरी और इसका प्रयोजन भी कुछ न कुछ है और नए फल पैदा होते हैं पशु पक्षियों को भोजन मिलता है प्राणियों को भोजन मिलता है खाद बनती है बीज बनते हैं ताकि फिर से नए पौधे उत्पन्न हो सके व्यवस्था है और प्रयोजन है तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि संसार में दो तरह की चीजें दिखाई देती हैं जिनको बनाने वाले होते हैं और जो बिना बनाए भी बनती हैं ऐसी भी हैं उनको पहले हमें यहां लाना होता है कि ऐसे उदाहरण उनके सामने रखें कि इसका बनाने वाला आपने नहीं देखा फिर भी इसका बनाने वाला आप क्यों मानते हैं और जब वो अपने मुख से ये स्वीकार करें कि यहां व्यवस्था है और इसका कोई प्रयोजन है अब इस सूत्र को पकड़ करके पेड़ पे घटाएंगे जल पे बनाएंगे जल पे घटाएंगे भूमि पे मिट्टी पे घटाएंगे भूमि में भी रचना है वो कहे कि ये तो अव्यवस्था है कहीं कोई मिट्टी कैसी कोई मिट्टी कैसी लेकिन वहां भी जो व्यवस्था है वो हम उनको बताएं देखो मिट्टी में ये ये तत्व हैं इससे पेड़ पौधे बनते हैं मिट्टी के भी अपने नियम हैं मिट्टी में भी कण है परमाणु है उनमें भी गति है एक व्यवस्थित गति है जहां जहां हमें ईश्वर का कर्तृत्व सिद्ध करना है वहां हमें उसमें व्यवस्था को बताना होगा वो कहेंगे पर्वतों में क्या व्यवस्था है पर्वत तो ऐसे ही है कहीं से किस रंग के कहीं से किस रंग के कहीं यहां उभरा हुआ है कहीं यहां उभरा हुआ है कोई व्यवस्था ही नहीं है यहां पर कोई प्रयोजन ही दिखाई नहीं देता वैसे ही ढेर खड़ा हुआ है मिट्टी का पत्थरों का तो वहां हमें बताना होगा उनको कि पर्वत भी वृष्टि आदि में कारण बनते हैं यहां विशेष प्रकार के जीव बसते हैं या विशेष प्रकार के पौधे होते हैं इत्यादि प्रयोजन दिखाने होंगे और वहां पर्वतों में भी एक व्यवस्था है वहां के कम से कम परमाणुओं में अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है तो जब जब हम व्यवस्था और प्रयोजन उनको बताएंगे तब तब कोई बनाने वाला अवश्य सिद्ध होगा यही बात सूर्य यही बात तारों में सब जगह घटेगी तो जब हम ये सिद्ध कर देते हैं तो इससे इतना होगा कि कोई बनाने वाला अवश्य है और वो बनाने वाला बुद्धिमान है फिर ये अगला <clears throat> फिर ये अगला प्रश्न आएगा कि वो बनाने वाला एक है या अलग अलग है हो सकता है इस वृक्ष को बनाने वाला कोई और हो नीम के पेड़ को बनाने वाला कोई और हो आम के पेड़ को बनाने वाला कोई और हो क्योंकि अलग अलग रचनाएं हैं जैसे अलग अलग वस्त्र और अलग अलग भवन बनाने वाले अलग अलग होते हैं उनके अलग अलग प्रयोजन हो सकते हैं ऐसे ही भिन्न भिन्न ग्रहों को बनाने वाले कोई अलग अलग होंगे इतना कोई कह सकता है तो वहां हमारा उत्तर जो यहां महर्षि ने संबोधन दिया सर्व जगत उत्पाद का आधार सारे जगत के उत, का जो उत्पादक रूप आधार है सबका वो एक है उसके लिए फिर हमें इनका समन्वय बताना होगा कि यदि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा ये बने होते अलग परमात्मा के द्वारा बने होते तो इनमें इतना अद्भुत समन्वय नहीं हो सकता था इनके समन्वय से हमें पता लगता है कि कोई एक व्यक्ति है कोई एक जाता है कोई एक ज्ञान काम कर रहा है जिसने इनको बनाया है तभी इतना अद्भुत समन्वय हो सकता है तो परमात्मा सर्व जगत का उत्पादक रूप आधार है ये भाव हमारे मन में जब उत्पन्न हो जाता है तो हमें केवल एक ही तत्व दिखाई देता है न केवल इस पृथ्वी सब लोक लोकांतर मैं कहीं भी जाऊं किधर भी जाऊं कुछ भी करूं वो एक ही का ध्यान मन में रहेगा एक ही उत्पादक है एक ही के नियम काम कर रहे हैं और मेरे को जिसके नियम के अनुसार चलना है वो केवल एक ही है जब अलग अलग राजा हों अलग अलग अधिकारी हों अलग अलग उनके नियम हों तो व्यक्ति इधर उधर हो सकता है कि मैं इसके अनुसार करूं या उसके अनुसार करूं संशय में हो सकता है किसका उचित है किसका अनुचित है उसके पास विकल्प हो सकता है चुनने का किसको प्रभावित करना है किससे बचना है इत्यादि वो विकल्प रख सकता है लेकिन जब एक ही व्यक्ति है सबके नियम एक हैं और कोई है ही नहीं अन्य कोई विकल्प ही नहीं है तो एक लक्ष्य होकर के एक ही उन नियमों को पालन करना है और कोई उपाय ही नहीं है तो उस तरफ व्यक्ति एकदम दृढ़ होता है एक पक्ष में आ जाता है एक ही परमात्मा को वो स्वीकार करता है तो इस संबोधन को अर्थ को अपने मन में रखते हुए हे सर्व जगत उत्पादक आधार मेरे भी आधार आप हैं और मेरा जीवन इन सब से चल रहा है इन सब के आधार आप हैं आप ही मेरे रक्षा करने वाले हैं आप ही के आधार पर मेरा ये जीवन चल रहा है ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव कृतज्ञता का भाव रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे ओ...